बैठी बैठी या तो कोई गीत गाती थी या जो कमजोर थी वो दुखी होती होगी उसमें आटा वो डालती जाती थी अन्न और घुमाती जाती थी डालती जाती थी है ऐसे वो जो पीसते हैं हमारे ये दांत दाए बाए वाले चपटे इनके पीसने के लिए कौन भेजता है वहां पर नहीं पता आपको हाँ जी आत्मदेव जी है क्या बताया जीव भेजता है हाँ भेजती है क्या बोलोगे आप ये देखेंगे कई बार आप खाते खाते जीवा कट जाती है वो क्यों कट जाती है <laughs> बोलो तो नानक जी वो यहां से यहां अन्न पहुंचाने गई थी बेचारी उसने दबा दिया तो कट गई दाए बाए दाए बाए दाए बाए ऐसे भाग भाग के दबाती है अन्न को ईश्वर ले जाती है इसको ले जाती है ईश्वर वो ना हो तो हम चबा ही नहीं सकते ईश्वर नहीं आज समझ में अब पता किसी को नहीं अंदर क्या हो रहा है और कैसी विचित्र अच्छा ये रचना ईश्वर को स्वीकार करने में क्या है बाधित करती है मनवा देती है उसको कोई उपाय नहीं दिखता जिससे ये रचना स्वतः बन जाए प्राकृतिक पदार्थ बना दे या व्यक्ति बना सके देखो व्यक्ति की जब बात आती है तो व्यक्ति बनाने के योग्य कब होता है पहले उसका शरीर बनता है फिर इंद्रियां आ जाती हैं फिर वो बड़ा बड़ा होता है जवान होता है तब सोचता है तब देखता है तब कोई चीज बना पाता है इससे पहले सृष्टि बनी हुई होती है क्या समझे आप हाँ जी क्या नाम आगे बैठे आपका है आप बताओ मैंने क्या कहा हाँ फिर फिर कुछ वो चीज को उत्पन्न करने की योजना बनाता है ना ऐसा ही है ना या नहीं और वो जब बच्चा था बालक उससे पहले पूरी सृष्टि बनी बनाई मिलती है उसको क्या समझे आप यदि मनुष्य सृष्टि को बनाता थोड़ी देर वो बनी बनाई सृष्टि मिली है इसको तो अब फिर कहे कि मनुष्य ने बनाई तो मूर्खता की बात हुई या नहीं हुई वही मनुष्य तो बनी बनाई जब खाने पीने के पदार्थ हो गए खाने के लिए फल हो गया गेहूं चने हो गए और फिर मनुष्य का शरीर आया सारी चीजें तैयार मिल गई ये सृष्टि को कैसे बनाएगा ये सृष्टि नहीं बनी थी सत्वरजतम अति सूक्ष्म पदार्थ अंधकार में संसार पड़ा हुआ था जीवात्मा हम मूर्छित बेहोश पड़े थे उस समय सृष्टि कैसे हम सोच सकते हैं कि सृष्टि बनानी चाहिए या नहीं सोच सकते हैं? क्यों नानक जी जी गाढ़ निद्रा में जब सो रहे होते हैं आप जब आप सोच सकते हैं कि मुझे अपना कोठी बनानी चाहिए हुँ? हम्म? या नहीं सोच सकते हैं अच्छा और आगे बढ़ो माँ के पेट में होते हैं तब सोच सकते हैं मुझे इतनी बड़ी लंबी कोठी बनानी है ऐसे दुकान खोलनी है तो ये बनी बनाई सृष्टि ये जो है व्यक्ति को मिलती है ये भौतिक वैज्ञानिक जो मानते हैं वास्तव मानते हैं वो तो ठीक है और जो कहते हैं मानते ही नहीं उनका दिमाग विकृत है अशुद्ध है वो पद्धति नहीं जानते विज्ञान की और यदि मानते भी हैं तो इस रूप में कह देते हैं हाँ कोई शक्ति होगी हो सकती है ऐसे कोई निर्णय पर नहीं पहुंच पाते कि ऐसी ही चीज है ऐसे एक चेतन तत्व है एक संसार का बनाने वाला एक पदार्थ है एक वस्तु है ऐसा कुछ नहीं कर पाते तो हमको परमाणु से ईश्वर के विषय में ये सिद्ध करना चाहिए कि इन वैज्ञानिक पदार्थों के निर्माण से ईश्वर है संसार के अंदर ईश्वर है या नहीं एक समस्या सबके सामने आती है या नहीं और फिर दूसरी आती है है तो कैसा है या नहीं आती आप विचार करें तो आएगी और आपने केवल भाई रोटी कपड़ा और मकान है और आगे क्या है, है? मांग रहा है यही बात याद है तो आप नहीं सोच सकते तो ईश्वर है या नहीं है ये एक समस्या है कितने लोग तो ये कहते हैं कोई समस्या ही नहीं है है तो है नहीं है तो नहीं है नहीं नहीं तो हमें करना क्या है ऐसा मान के चलते अच्छा फिर मानने वाले में भी एक बात आती है ईश्वर कैसा है ये निर्णय भी कोई साधारण निर्णय नहीं है कि ईश्वर ऐसा ही है इससे विरुद्ध विपरीत नहीं है ये निर्णय कोई साधारण निर्णय नहीं है साधारण बात नहीं है लगता सरल है वो लोग तो ये कहते हैं जैसा मान लो वैसा ईश्वर है जिसकी जिसमें श्रद्धा है वैसा ईश्वर है विश्वास के ऊपर है तो विश्वास कर लो वैसा ईश्वर है ये भारत के करोड़ों लोग तो यही कहते हैं जैसा विश्वास कर लो ऐसा ईश्वर है बस आप जब ये चाहेंगे कि हम अंतिम निर्णय लेना चाहते हैं ऐसा ही ईश्वर है आपको बड़ी कठिनाई का अनुभव होगा हाँ ब्रह्मचारी लोग बताएंगे होगा या नहीं होगा हुँ? हम्म? ईश्वर ऐसा ही है इससे विपरीत नहीं आपको कठिनाई का अनुभव होगा या नहीं होगा ब्रह्मचारी बोलेंगे या सरलता से हो जाएगा कठिनाई होगी हम्म? कठिनाई होगी हाँ जी बोलो कहीं कहीं कठिनाई हो सकती है हम्म, हम्म। अच्छा आपसे मैं ये पूछू ईश्वर का मुंह किशोर है तो क्या उत्तर दोगे जैसा हो वैसे उत्तर ईश्वर में इस प्रकार के अवयव नहीं है अवय ना होते हुए यदि कोई कोई तो उसका होगा ना ये ये, आज यहाँ से सोचता है यहाँ से ये ये करता है ऐसा तो कुछ भाग तो होगा है अच्छा ऐसा कोई उदाहरण दो जिसका से और मुख हो ऐसा प्राणी दिखाओ कोई <laughs> ऐसा नहीं है इसलिए तो ईश्वर है <laughs> ऐसा कोई उदाहरण दो है अरे देखो हम यहां से सोचते हैं पीछे से तो नहीं सोचते ऐसे सोचते ना तो संगत दिखता भाई यहां से सोचता है, है? यहाँ से पीछे हट जाता है यहां से बाएं दाएं चल हम एक देशी है इसलिए एक ओर से ही कर सकते हैं और ईश्वर सर्वव्यापक है ये सब ओर से कर सकते हैं अच्छा मुंह ही मुंह आओ फिर तो उसको जहां देखो भाई मुंह ऐसी ऐसी जो बातें उभर के आती है तो व्यक्ति हम्म, संशय में पड़ जाता है क्या करें माने न माने क्या करें है जी तो एक बीच में वो सुनाया करते हैं चुटकला कि भाई एक व्यक्ति थे उनसे पूछा कि भाई आप ईश्वर को साकार मानते हैं या निराकार तो उसका सुनाते हैं उसने कहा जब आर्य समाज के विद्वानों का उपदेश सुनता हूँ तो निराकार मानता हूँ और अवतार भाइयों का सुनता हूँ तो भाई साकार मानता हूँ अब ईश्वर की स्थिति तो ऐसी ऐसा ऐसे सोचते हैं लोग अच्छा इनके मन में यही बात होगी सारे की कोई कहता है भाई चौथे समान पे कोई सात में कोई क्षीर सागर में कोई कैलाश पर्वत में ब्रह्मा कुमारी परम धाम में ये सब ने अपना अपना ईश्वर घड़ रखा है <laughs> बना रखा है और इसमें कोई ननु नच नहीं है लोगों के दिमाग में भाई सभी ठीक है जैसा जैसा जिन्हें मान देखा वैसा ईश्वर ठीक है वैसा ठीक है अब आप बताओ ऐसा ईश्वर है जैसा माने वैसा ही वो वैसा ही बन जाता हो ऐसा ईश्वर हमारा भला कर देगा क्या हुँ? हम्म? तो व्यक्ति को ईश्वर का स्वरूप निर्धारित करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता पर्याप्त विज्ञान विद्या की प्राप्ति पर्याप्त प्रयोग और प्रमाणों के माध्यम से अंतिम सत्या सत्य का निर्णय उसको करना पड़ता है लाखों बार करना पड़ेगा थोड़े से ऐसे काम नहीं चलता तो ईश्वर के कर्मों को देखो एक बात आपके मन में ये भी संशय होता होगा कि ईश्वर जब क्रिया करता है तो करता दिखाई देता है या नहीं देता होता है ना या नहीं दिखाई देता है नहीं देता क्रिया करता होगा अब बोलो कुछ तो बोलो है ईश्वर क्रिया करता है मान लिया ईश्वर सृष्टि की रचना करता तो सब कुछ बनाता है उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है तो वासुदेव जी क्रिया करता हुआ दिखाई देता है या नहीं देता तो दिखाई दिया हाँ आपका कहना है भाई हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण से तो वो दिखाई नहीं देता आपका मतलब है अनुमान प्रमाण से हम उसको जानते हैं या नहीं ठीक है ना है जी प्रत्यक्ष प्रमाण से तो क्रिया दिखाई नहीं देती और अनुमान प्रमाण से हम जानते हैं कि ईश्वर क्रिया करता है जहां जहां कभी प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं करता वहां अनुमान प्रमाण काम करता अब एक मंत्र का शब्द है ये तो व्रतानी पस पशे ये कहता है कि देखो विष्णु के कर्मों को देखो और जिसके सहयोग से जिसकी सहायता से जिसके दिए सामर्थ्य से जिसके दिए विज्ञान से ये जीव आत्मा कर्म करने में समर्थ होता क्या समझे आप नियाज समझो नानक जी क्या बताया पढ़ना सीख लो पढ़ना सुनना सीखना पड़ता है यदि पढ़ना लिखना ऐसे नहीं सीखा ना तो वो जो कई लोगों की जो कथा सुनाते हैं ना कि भाई एक व्यक्ति पंडित कथा करते थे रामायण की और कथा करते करते पूरी हो गई और नानक जी का नाम लूंगा किसका लूंगा वो रोज सामने बैठते थे और सुनते सुनते कथा पूरी हो गई हो गई तो रावण कुंभकर्ण मारे गए ये हुआ सारा तो वो व्यक्ति जो पास में बैठता था प्रतिदिन वो कहने लगा पंडित जी ये बताओ मुझे ये राम राक्षस था या रावण राक्षस था तो पंडित जी कहता है कि भाई न तो राम राक्षस था न रावण राक्षस था मैं राक्षस हूं जो तुम्हारे वैश्य में सारी कथा सुना दी और अब तक पता नहीं चला राम राक्षस आ रहा ये कथा सुननी सुनानी पढ़ना पढ़ाना ऐसे नहीं ये पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सीखना पड़ता है ये तो वर्तानी पशपशे का मतलब व्रत कहते हैं अच्छे अच्छे कामों को उनको करने में जी जो जीवात्मा समर्थ होता है उस विष्णु के कर्मों को देखो मैं और आप हम सारे के सारे न तो विद्या प्राप्ति कर सकते और न शुभ कर्म कोई क्रिया नहीं कर सकते हम किसी की उपासना भी नहीं कर सकते जब ईश्वर शरीर देता है इंद्रिया देता है जलवायु अनुकूल बना देता है तब हम ईश्वर की सहायता से कर्मों को करते हैं ऐसा विष्णु है ईश्वर इंद्र से युज्य शखा इंद्र जीवात्मा का नाम जीवात्मा का उत्तम उचित सखा मित्र एक ईश्वर है सन्नह मित्र व्यक्ति कभी किसी का मित्र हो जाता है तो कभी कभी वो का वो विरोधी भी हो जाता है कभी कभी उपेक्षा भी करता है ईश्वर में ये बातें नहीं होती दोहराओ क्या कहा व्यक्ति तो कभी किसी का मित्र होता है कभी किसी का वो शत्रु होता है और कि कभी कि उपेक्षा कर देता है पर ईश्वर में ये स्थितियां नहीं आती वो ईश्वर जो है मित्र ही रहता है पर इतना होने पर भी आप ध्यान देंगे जितना वो हमारा मित्र ही रहता है कभी ना शत्रु बनता है ना उपेक्षा करता है तो आप क्या ईश्वर के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं उत्तर दो हाँ जी वासुदेव जी नहीं, नहीं करते ना हम्म तो आपको सुनाया जाता है ईश्वर के साथ उचित व्यवहार करो वो क्या है उचित व्यवहार और आर्य समाज के सातवें नियम में सब सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करो ईश्वर के साथ भी यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए अब ये व्यक्ति समझता ही नहीं कि ईश्वर के साथ उचित व्यवहार क्या होगा वो कर ही नहीं सकता फिर जीवात्मा यदि ऐसा निश्चय आत्मक ज्ञान बनाए कि ईश्वर सदा ही हमारा मित्र है कभी शत्रु नहीं बनता हमारी उपेक्षा भी नहीं कर देता तब जीवात्मा ईश्वर की ओर आकृष्ट होता है रुचि होती है एक और संसार के पदार्थ हैं जो जीवात्मा को खेचते ईश्वर की ओर से विमुख कर देते एक और ईश्वर है उसका ज्ञान हो जाने पर विशेषताएं ज्ञात होने पर ईश्वर का प्रेम खींचता है और संसार के पदार्थों से व्यक्ति विमुख हो जाता है विमुख का अर्थ ये नहीं लेना विरोध करता है उनसे जो आकर्षण था उनकी जो उपासना थी राग था उसको छोड़ देता ममत्व मैं और मेरा और उनमें अति आकर्षण ईश्वर से विमुख करने वाला वो नहीं रहता बस तक आपको ठीक हो हाँ जी तो ये विशेषताएं जब व्यक्ति जान लेता है तो उसका सांसारिक वस्तुओं से राग द्वेष हटता जाता है और जो उसको आकृष्ट करते हैं ये पदार्थ वो रुक जाते हैं जब तक वो ईश्वर की विशेषता नहीं जानता तब तक वो संसार के पदार्थों से राग नहीं हटाता और फिर द्वेष भी बना रहता है मैं और आप जहां विद्यमान है आत्मा शरीर को छोड़ो आत्मा वहां ईश्वर और हमारा क्या संबंध है क्यों हम्म? जी क्या आपको दिखता है मैं ईश्वर के पास में बैठा हूं आप ध्यान से देखो नानक जी बोलो आपको दिखता है मैं ईश्वर के पास बैठा हूं से, हम्म? से तो ईश्वर जैसा कोई मित्र नहीं न था न है और उससे हम हमारा पता ही नहीं चल रहा कि वो हमारे पास बैठा है हम उसके पास बैठे और दिन भर कभी उससे संबंध ही नहीं जुड़ता नमस्ते तक भी नहीं करते होंगे शायद <laughs> या करते हैं जी है करते हैं तो ऐसा होता जैसे कहीं आकाश पाताल में बैठा और मैं उसको नमस्ते कर रहा हूँ ऐसा नमस्ते ऐसा होता होगा में करते हैं सीधा जैसे लोक में पिता माता गुरु जी के सामने नमस्ते ऐसा नमस्ते होना कम ही होता है किसी समस्या भूल देने खड़ी हो रही है और आप अपने खा पी रहे हैं कच्चे बच्चे पैदा कर रहे हैं और भवन बना दिया तोड़ डाला वो कारखाना ये हो गया वो हो गया कार में बैठ गए और पता नहीं आप कहाँ घूम रहे हैं ये जानने की चीज थी वो तो जानी नहीं और जो नहीं जानने की वो जान लागी सारी जानते हैं माताओं है या नहीं ऐसा है हाँ जी पहले बेटे बेटे से निवृत्ति हुई थी इसका विवाह हो गया अब अब पोता हो गया तो पोते के पीछे लग लिए फिर पोते का और हो गया तो उसके पीछे लग लेंगे और जो करना जानना था उसका कोई कोई सिर पैर नहीं है वो क्या करना था क्या जानना था कुछ नहीं अच्छा चलो अब तो जान जाओगे आज से आगे या नहीं हाँ जी या वो दूसरी कथा सुनाते हैं घोड़े वाला घूमता घूमता आया वहां ऐसे बैठे थे लोग प्रवचन सुन रहे थे पंडित जी का वहाँ पचास साठ के लोग अवस्था वाले थे और वो कहने लगे पंडित जी देखो भाई अब तो हमारी पचास साठ वर्ष की अवस्था होगी वहां पर से ले लो और वो घोड़े की सवारी करने वाला भी सुन ही रहा था उनका बात बिल्कुल ठीक है मनुष्य का जन्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए हुआ है और आज से मैं इस बानपस के रूप में अपने आप को परिवर्तित करता हूँ उसने साधना आरंभ कर दी कर दी तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया बढ़ता गया तो ये दृष्टांत लेखक लिखते हैं ऐसी बात तो आगे क्या हुआ जब वो बारह वर्ष में फिर आया वो वहीं पर वो जो उपदेश सुनने वाले थे जो और वही लोग लगभग इन्हीं गिने अब कुछ बदल गए होंगे उसी ढंग से बैठे उसी ढंग के कोई पचास साठ का और वही पंडित जी उपदेश दे रहे और कहता देखो भाई अब हमारा जीवन जो है ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है अब इसमें हम साठ वर्ष के सत्तर के हो गए अब पर ले लेना चाहिए और प्रवचन समाप्त हो गया हो गया तो जो घोड़े का सवार था बांधपस बन चुका था वो उपदेश के पीछे उनके ऐसे शरीर को पकड़ पकड़ के हिला हिला के देखने लगा ऐसे क्या कर रहे मैं ये कर रहा हूं ये मिट्टी के माध हो बैठे हैं इनमें चेतना है <laughs> बारह वर्ष पहले यही सुना था कि हमने बानपस ले लेना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए अब ये इनको एक को भी एक में भी कोई परिवर्तन नहीं तो आपने ऐसा ही करना तो ठीक है आप जैसे हो वैसे रहो है या नहीं समझे ऐसे ही रहोगे या चलोगे नानक जी बोलो आपकी बात है आप कभी ये सोचा करो हम्म वेद की बात अश्व थे वो निषदनम व्यक्ति तेरा जीवन जो है वो ऐसी स्थिति में पता नहीं कल रहेगा नहीं रहे तब आएगा दिमाग ठिकाने नहीं तो नहीं ऐसे सोचता रहता आगे सदा सोचता है ये शरीर का पता नहीं ये कल रहेगा नहीं रहेगा जो कुछ अच्छा काम करना कर डालो पता नहीं एक नियम जिसका संयोग होता है उसका वियोग अवश्य ही होता है अब क्या समझे नानक जी ये शरीर हमसे संयुक्त है हमारा संयोग तो हम फटेंगे परिवार आदि जो हमारे साथ संबद्ध है वो नहीं रहेंगे जब ऐसा सोचता है तो व्यक्ति को विवेक वैराग्य होने लगता विवेक वैराग्य होते होते वो आगे बढ़ता जाता और फिर वो ईश्वर के विषय में जानता है आपने सुना होगा कभी कभी किन्हीं किन्हीं साधकों को विचार करते करते ईश्वर की महिमा कुछ गुण याद आते हैं तो वो आंसू निकलने लगते हैं उनके नहीं देखा सुना बताओ तो हाँ जी होता है नहीं होता है जी आपका हुआ कभी आपका प्यार ही नहीं उमड़ा होगा होना क्या था कहीं खाने पीने की चीज ना मिले ये मिलना था उसमें तो भले आंसू आ जाए <laughs> वो इतने दिनों तक वो जीवात्मा संसार की ओर भागता दौड़ता रहा उसको ईश्वर की महिमा गुण आए याद बड़े अच्छे लगे और वो कहता है वो इतना समय मैंने खो दिया और वह ईश्वर की ओर प्यार आता है तो उसको आंसू आ जाते हैं वो भावना उभरती देखो ये मनुष्य शरीर हमको मिला और ये सारी बातें ऐसे जानने की हैं जैसे मैं बतला रहा हूं ऐसे जान के जनाना और इसी के लिए हमारा जीवन है और अपने जीवन को अच्छा बनाना और फिर परिवार या समाज और राष्ट्र को अच्छा बनाना इसके लिए हमारा जीवन होना चाहिए आप जो ब्रह्मचारी हैं याद रखो जो आप पुरुषार्थ करते हैं परिश्रम करते हैं वो बहुत कम है बहुत थोड़ा है जितना होना चाहिए तो कल का प्रसंग क्या था हमारा याद है कुछ व्यक्ति की उन्नति के साधन पहला क्या बतलाया था शरीर स्वस्थ और बलवान शरीर थोड़ा सा और उसके दूसरा क्या बताया था ऋषियों के बनाए ग्रंथों का विशेष करके महर्षि दान सरस्वती के वो सरल भाषा हिंदी में विद्यमान उनको पहले पहले यदि व्यक्ति पढ़ता है आर्य रतनमाला व्यवहार भानु सत्या प्रकाश ऋग्वेद आदि उनको बड़ी श्रद्धा रुचि से जब पढ़ता है व्यक्ति तो उसमें कितनी समस्याओं का समाधान होता है कल आपको बताया था और उनके ग्रंथों को न पढ़ने पढ़ाने से कितनी समस्याएं खड़ी होती हैं उनका समाधान कोई भी नहीं है दो बताए थे और कोई था यहीं विराम था तो और प्रसंग आएगा तो फिर बताएंगे तो एक शरीर का बताया था और उसमें उदाहरण भी दिए गए थे और शरीर निर्माण से क्या क्या लाभ होते हैं इसे शरीर को गौण मानना ध्यान न देना इसको बलवान न बनाना व्यायाम न करना खान पान पर ध्यान न देना ये व्यक्ति की बहुत बड़ी भूल है ये वृद्धा माताएं तो ये सोचती होंगे तो जाने वाला है क्या करना है इतनी भूल करती हैं ये ये कहेंगे स्वामी जी ये शरीर तो मरने वाला है क्या स्वस्थ बनाना है क्या खाना पीना है और बस हो गया सो तो हो गया इतना ही सोचती है या नहीं कभी आता होगा ऐसा मन में जी आ जाता ना उसको ये पता नहीं एक एक कदम एक एक क्रिया जो हम करते हैं वो शरीर के माध्यम से हो रही है और जितना ये ठीक बना रहेगा उतनी अच्छे काम हो जाएंगे और उतना विद्या को सुनेंगे और यदि ध्यान नहीं देंगे तो कई वर्ष पहले इसकी मृत्यु हो जाएगी कई वर्ष अधिक जीता है यदि ध्यान देता है ध्यान देता है व्यक्ति के शरीर में बल होता है और ध्यान देता है उसके मन में भी उत्साह होता है कई विद्यार्थी पढ़ने में तो खूब जोर लगाते हैं और शरीर निर्माण में कोई ध्यान प्रयास नहीं करते तो उनके शरीर की स्थिति कई बार ऐसी होती है पढ़ते पढ़ते उसी अवस्था में रोगी और कमजोर निर्बल होना उनका शरीर आरंभ हो जाता आयुर्वेद के आचार्य ने तो विस्तार से लिखा है कि स्वस्थ व्यक्ति का क्या लक्षण है उसमें बहुत सी चीजें आई हैं कि आत्मा भी स्वस्थ हो इंद्रियां भी स्वस्थ हो मन भी स्वस्थ हो और शरीर भी इतना लंबा चौड़ा स्वास्थ्य की जो परिभाषा लिखी है स्वस्थ शरीर की वो आयुर्वेद के आचार्यों ने लिखी है आजकल आत्मा भी स्वस्थ हो इंद्रियां भी स्वस्थ हो मन भी इस पर कोई विशेष जोर ऐसा बल नहीं दिया जाता तो इसका अर्थ शरीर के ऊपर तो थोड़ा सा बताया ऐसे ही मन इंद्रिया और ये सभी व्यक्ति को स्वस्थ रखने पड़ते हैं अब विराम सरस्वती द्वारा की व्याख्या वेद मंत्र का श्रवण कर रहे थे इस मंत्र में एक बात ये लिखी कि ईश्वर का सेवन करो स्पष्ट किया ईश्वर और आत्मा के संयोग से जो नित्य सुख होता है उसको प्राप्त करो ये अभिप्राय हुआ आप आवृत्ति करो दोहराओ ईश्वर के सेवन का क्या अर्थ है ईश्वर के और जीवात्मा के संबंध से जो नित्य सुख की प्राप्ति होती है उसका सेवन जीवात्मा करता है अब ध्यान दो पूरे भूगोल में बुद्धिमान जो कहे जाते हैं उनसे ये पूछो क्या ईश्वर के संबंध से कोई नित्य सुख मिलता है दो धाराएं मिलेंगी जो ईश्वर को मानते हैं वो कह देंगे हाँ ऐसा होता है पर उनके न दिमाग में ये बात बैठती न वो प्रयास करते कठिनाई भौतिक पदार्थों से हम खाते पीते साक्षात देखते और सुख मिलता है पर जो ईश्वर दिखता नहीं हाथ पैर से पकड़ा नहीं जाता अब उससे कैसे सुख मिलता है जो वैज्ञानिक बुद्धिमान माने जाते हैं जिनको आचार्य गुरु मान के चलते हैं वो इस बात को नहीं समझ पाए समस्या ये है संसार यदि वे इस बात को समझ जाते कि ईश्वर में नित्य सुख रहता है तो ईश्वर को स्वीकार करते उसकी खोज करते अरबों रुपया खर्च करके प्रयत्न करते और उसकी अनुभूतियां करते फिर संसार को कहते कि संसार में जो सुख है क्षणिक है और उसमें चार प्रकार का दुख मिश्रित है और ईश्वर में सुख नित्य है ये कहते एक बार एक वैज्ञानिक से बात हो रही थी हो सकता है अपने वर्मा जी बैठे ये ही हो ऐसे बात चल रही थी कि आप ईश्वर की खोज क्यों नहीं करते ईश्वर की गवेषणा क्यों नहीं करते ईश्वर को मान के उसको प्राप्ति के लिए प्रयास क्यों नहीं करते तो प्रसंग उठा कि उससे मिलेगा क्या क्या मिलेगा भौतिक विज्ञान का आविष्कार होता है उससे हमको सुख मिलता है बल मिलता है साधन मिलते हैं तो मैंने कहा जैसे ही इनसे सुख मिलता है आप इनकी खोज करते हैं ऐसे ईश्वर से भी सुख मिलता है तो उन्होंने कहा यदि ईश्वर से सुख मिलता है तो उसकी खोज भी की जा सकती है क्या समझे अब दूसरी बात सुन लो कितने विषय ऐसे होते हैं जो आज हम उनको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते किंतु शब्द प्रमाण से मान के चलना पड़ता है है या नहीं भौतिक वैज्ञानिकों को भी मानना ही पड़ता है शब्द प्रमाण बिना शब्द प्रमाण के निर्वाह नहीं हो सकता और अनुमान प्रमाण अनुमान प्रमाण भी भौतिक वैज्ञानिकों को मानना ही पड़ता है ये अपने वैज्ञानिक कहा करते हैं बैठे ना आपके सामने कहते हैं अच्छा आप ये कहते हैं कि अनुमान प्रमाण से जो सिद्ध बात होती है हम उसको नहीं मानते अच्छा तो ये कहते हैं जिसको आप क्वार्क कहते हैं क्वार्क आजकल जैसा मैंने सुना वो हमको इंद्रियों से तो दिखते ही नहीं क्वार्क्सों का अनुमान किया जाता है कि क्वार्क्सों से प्रोटोन न्यूट्रन बनते हैं तो उनको मानना पड़ाया नहीं क्वार्क्स है कोई किससे मानना पड़ा अनुमान प्रमाण से मानना पड़ा अच्छा ये बताओ जिस दिन हम माँ के पेड़ से पैदा हुए दिन हमने देखा था ये मेरी माँ है उसको माँ मत माना करो फिर नहीं समझे आप क्या समझ माया दो रात तो लो यदि आप अनुमान प्रमाण या शब्द प्रमाण को नहीं मानते तो ये हमारी माता जी है हम इसके पुत्र हैं ये कैसे पता चला शब्द प्रमाण से चला होगा या अनुमान प्रमाण से पता वजह प्रत्यक्ष तो है नहीं मत मानो फिर कोई किसी की माता नहीं है कोई किसी का पुत्र नहीं बात ध्यान देने की है ईश्वर जैसे पदार्थ जीवात्मा जैसे पदार्थ इनसे मिलने वाला सुख यंत्रों से दिखाई नहीं देता और आगे बढ़ जाइए मैं वैज्ञानिकों से पूछूं आप ये बताओ आपकी कौन सी मशीन ऐसी है जो सुख और दुख का प्रत्यय करवाती हो बताओ कौन सी मशीन है बताओ तो है हाँ जी तो परिणाम निकलेगा सुख दुख नाम की चीज ही नहीं है आगे आओ थोड़ा सा दूर बैठे हो ना और आगे आ जाओ हाँ क्या खोज की निश्चितता से उसको ऐसे पूरी तरह रोक देते हैं मच्छर काटते हैं खड़ा करते हैं और एक सप्ताह में सूख जाएगा रोगी हो जाएगा और खाने पीने को दूर आने से लेटेगा इतना अट्टा खट्टा हो जाएगा ये सुख का परिणाम और ये दुख का परिणाम कौन नहीं जानता हनुमान से पता चला सुख दुख दिखाई थोड़ा ही दिया अच्छा सुनो आपने यहाँ हलवा खाया होगा कई बार खाया नहीं खाया और कैसा था वो कैसा लगा था आप में से मुझे प्रत्येक करवा सकते हैं अलवे के सुख को है मैं उसको खाऊंगा अनुभव करूंगा तब मेरा प्रत्यक्ष होगा आपका प्रत्यक्ष मुझे कभी जांच नहीं होगा ये न्याय कहता है अपनी वजह नहीं जो पढ़ते हैं जो बताया जाता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता क्या समझे आप ठीक है और अनुमान भी प्रत्यक्ष नहीं होता क्यों तो हम विचार रहे थे जैसे लौकिक पदार्थों से सुख मिलता है ऐसे सुख ईश्वर से मिलता है ये वेद मंत्र में कहा है व्यक्ति संकेत दिए ध्यान दे क्या अश्वत्थ है वो निषदनम ऐसी धाराएं इसमें आई जो योग दर्शन की प्रातःकाल बात सुनाई गई थी ये व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि शरीर नाशवान है नहीं तैयार और जब ये मानने के लिए तैयार नहीं तो योग में रुचि होगी ही नहीं जो व्यक्ति ये अनुभव करता शरीर तो गया जैसे गया वो व्यक्ति योग की ओर प्रवृत्त होता है आपने सुना होगा कथा से कुछ अधिक समझ में आता है झटाझट जट कथा सुना देता हूं धीरे धीरे सुनाने में तो समय अधिक लगेगा राजा भोज के चाचा जी कौन थे और वो छोटा सा जब था तो उनके पिताजी राजा भोज के जब ऐसी स्थिति में पहुंच गए मेरा शरीर जाने वाला है तो कहा भाई इसकी देख रेख तो करना पालन पोषण विद्या गुरुकुल में पढ़ता था वो बड़ा बुद्धिमान और उस समय ऐसा हुआ हुआ तो कालांतर में एक झूठा ज्योतिषी आया घूमता घामता नहीं समझते आप ये तो भाग्यवादी होते ना आपका भविष्य उनका मेरा भतीजा जो है कालांतर में मेरे लिए अनुकूल होगा प्रतिकूल उनका तेरा विनाश कर डालेगा अच्छा योजना बनाई अपने अधिकारियों को काय को लेके जंगल में ले जाकर के मार दो भाई अधिकारी बुद्धिमान थे उन्होंने कहा इतना अच्छा बालक इतना बुद्धिमान ऐसे कैसे मार दे क्या किया जाए सुनाया जाता है नकली आंखें ले ली अथवा मृग की आंखें ले ली कोई भी हो वो आंख ले ली जैसे और जाके जंगल में उसे पूछा गया आपके चाचा जी ने कहा है कि क्यों मारो और उसके पश्चात कुछ कहना हो तो बोलो तो ये राजा भोज क्या कहता है हाँ। मानधा मानधाता चलो बिना लेके बोलने मानधाता महीपति स महीपति स महीपति कलयुगे और आगे लंकार भूतो लंकार भूतो गत है तूर ये न महोदधो विरचित है समुद्र के ऊपर जिन नीलनादि ने पुरवाना था वो भी चले गए और अन्य जाति युधिष्ठिर आदि चक्र से राजा भी चले गए चाचा जी ये है न के नापी गतम ये सारा धन संपत्ति किसी के साथ धन दाने से भरी भूमि नहीं गई चाचा जी तेरे साथ जरूर जाएगी ये श्लोक बना के दे दिया और वो जाके अधिकारियों से पूछताछ हुई कि मेरे मेरा भतीजा तुमने मारा है जो मार दिया तो उसने कुछ कहा हाँ, हाँ मानदाता से मई पति क्रिय हुई कृत योग में महादाता राजा महाराजा चले गए नील नल भी चले गए युधिष्ठिर आदि सब धन आने से भूमि को छोड़ के चले गए चाचा जी ये भूमि और धन संपत्ति तेरे साथ जरूर जाएगी बताया जाता है कि बेहोश जैसे हो गए पागल जैसे हो गए रोने धोने जैसा भी लगे अधिकारियों ने सोचा हमको भी खतरा है बताना नहीं चाहिए उनको छुपा के रख रखा था माना नहीं था उसको कहने क्या चाहिए बताओ ए, इसको जीवित रखा जा सकता है तो तुमने मार डाला हाँ हाँ ऐसे योगी होते हैं राजनीति वाले झूठ बहुत बोल जाते हैं <laughs> ऐसे योगी होते हैं वो जीवित कर देते अच्छा उन उनका खतरे की घंटी से खाली है हम उनका अच्छा मारा तो था ही नहीं लाके खड़ा कर दिया भाई बताया जाता है जैसा सोना कथा में भाई उसी दिन राजपाट ठोकर थो, मार दी और योग मारे आप भी ऐसा ही करोगा बताओ ऐसा है आपके मन में